ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदम् पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति श्रीमद्भगवद्गीता द्वादश अध्याय छाछठ श्लोक के ऊपर कुछ विचार चल रहा था विशेष विचार श्लोक का अर्थ तो हो गया कुछ विशेष विचार है जिसमें विचार क्या है ये गीता भगवत गीता में कहीं ज्ञान की चर्चा है कहीं कर्म की चर्चा है तो क्या ज्ञान से मोक्ष है या कर्म से मोक्ष है या दोनों मिलकर के मोक्ष है ये यहां एक विशेष विचार यही है क्यों मृतम स्मृत आदि श्लोकों में कहा हुआ है ज्ञान से मोक्ष दिखा रहा है और कर्मण्यवाधिकार माफल सुखदाचन आदि वाक्यों में कर्म से दिखा रहा है कर्म को कर्तव्य दिखाता है कहीं ज्ञान को कर्तव्य दिखा रहा है और दोनों कहने पर समुचित भी एक पक्ष आ सकता है दोनों मिलकर के हो मोक्ष तो सिद्धांत में कहा कर्म से मोक्ष होना संभव नहीं है ज्ञान से मोक्ष है ज्ञान न मुक्ति आदि श्रुति है ज्ञान से मोक्ष है पूर्वाज बोल रहे हैं ज्ञान तो निरर्थक है ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं मोक्ष के लिए तो मीमांसक है पूर्व मीमांसक मानते हैं ज्ञान के गैर अंदाज कर देते हैं जो श्रुतियों में जो आत्मज्ञान आत्मज्ञान की चर्चा है ना आत्म कर्म करने वाले कर्ता जो तो होगा ना उसका अपना ज्ञान होगा मैं कर्म करने वाला करता हूं करके ऐसा ज्ञान शुद्ध बुद्ध मुक्त आत्मज्ञान नहीं मीमांसकों को कैसा पक्ष है श्रुतियों में ज्ञान कहा हुआ है माने कर्म के अंग रूप से कर्ता का क्यों कोई कर्ता का ज्ञान हो तभी तो कर्म करेगा उसके लिए है मुक्ति के लिए ज्ञान नहीं ज्ञान निरर्थक है तो सिद्धांत का ज्ञान यदि अनर्थक है तो कर्म से भी मोक्ष होगा नहीं तो फिर मोक्ष होगा ही अनिर्मोक्ष होगा शंका किया था नहीं कर्म कुछ कर्म करे कुछ न करे मोक्ष हो जाता है मिल जाता है कैसे नित्य कर्म करता रहता है आजीवन है वो उससे क्या होगा भविष्य में दुरित की प्राप्ति नहीं होगी प्रत्यवाय नहीं लगेगा भावी शरीर होने के लिए पाप कर्म नहीं हो पाएगा नित्य कर्म कर रहा है तो पाप कर्म नहीं तो शरीर नहीं होगा एक भावी शरीर होने की संभावना नहीं और निषिद्ध कर्म नहीं करता नारकीय शरीर भी नहीं होगा और काम कर्म नहीं करता इष्ट शरीर भी नहीं होगा मैंने मतलब स्वर्ग आदि शरीर भी नहीं होगा तो स्वर्ग आदि शरीर भी नहीं है इष्ट कर्म न करने के कारण अनिष्ट कर्म न करने के कारण नारकीय शरीर पशु आदि शरीर भी नहीं है और नित्य कर्म कर रहा है इसलिए मैंने मतलब प्रत्यवाय होने की संभावना जो प्रत्यवाय होने पर भावी एक शरीर होने की संभावना थी वो भी नहीं है तो अनायास मोक्ष है मोक्ष के लिए ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है ये मीमांसक लोग बोल रहे हैं तो सिद्धांत में जो एकदेशी होते हैं पूरा सिद्धांत नहीं जानते हैं कुछ कुछ वेदांत को समझते हैं सब नहीं जानते उसको एकदेशी बोलते हैं मुख्य सिद्धांत नहीं सिद्धांत के एकदेशी कहते हैं आरब्ध कर्म के साथ तरी देहांतर में प्रारब्ध कर्म जो आरंभ हुआ कर्म होगा ना इसी से अन्य सभी हो जाएगा क्योंकि ऐसे ऐसे प्रारब्ध है लंबे लंबे तीन तीन जन्म के प्रारब्ध देखा गया एक ही प्रारब्ध तीन जन्म जड़ भरत को हुआ है ऐसे कई दृष्टांत है एक ही प्रारब्ध है तो आरब्ध कर्म के साथ कहा आरंभ कर्म जो प्रारब्ध कर्म है आरंभ हुआ जो कर्म है उसके पर से ही तरी देहांतरम फिर देहांत देहांत अन्य देह हो भविष्य शरीर हो एक देश ने कहा तो मीमांसा कहते न आरंभ कर्म से नहीं बसता भावी शरीर वर्तमान शरीर आरंभ कैसे जो कर्म ही मीमांसा कहते जो वर्तमान जो आरंभ ये शरीर के जो आरंभ कर्म हुए हैं प्रारब्ध कर्म जिसको कहा जाता है कर्मण इस कर्म का फल उपभोग भोग क्षय फल समाप्त होने पर क्षय हो जाएगा शरीर कर्म का फल समाप्त हो गया पतिते अस्मिन शरीर ये शरीर पात हो गया शरीर नाश हो गया मृत्यु के पश्चात देहांतर उत्पत्त कारणाभाव अन्य मतलब जो कुछ इस प्रारंभ कर्म लेकर आया था जितना भोगना था भोग दिया कर्म का फल पूरा हो गया अन्य देह अन्य शरीर प्राप्ति में कारणाभाव कारण है ही नहीं किस कर्म के कारण से होगा प्रारब्ध कर्म या भोग से समाप्त कर दिया है नित्य कर्म निरंतर कर रहा है प्रतिभा होकर के आगे शरीर होने की संभावना नहीं है अनिष्ट कर्म नहीं कर रहा है निश्चित कर्म नहीं करता के शरीर होने की संभावना है कालांतर में शरीर के साधन नहीं कर्म चाहिए कर्म नहीं इष्ट काम में कर्म नहीं करता इष्ट शरीर होने के लिए भी साधन नहीं रहा भविष्य में तो मान वर्तमान जो प्रारब्ध कर्म जितना था वर्तमान भोग करके समाप्त कर दिया उसने तो अन्य कारण न होने के कारण कारण अभाव जो कारण कर्म है शरीर के लिए कोई कारण रहा नहीं आत्मनो राग आदि नाम से कारण और राग द्वेष भी नहीं करता यदि राग द्वेष करता तो राग द्वेष से भी पाप पुण्य हो जाता तो उस पाप पुण्य के कारण आगे शरीर मिला था राग द्वेष भी नहीं आत्मा अपने ऐसा कर रहा है काम्य हाँ। कर्म भी नहीं निषिद्ध कर्म भी नहीं नित्य कर्म कर रहा है प्रारब्ध कर्म भोग से समाप्त कर दिया और राग द्वेष भी नहीं करता किसी के साथ राग भी नहीं द्वेष भी नहीं करता इस कारण से आगे शरीर होने के लिए कारण ये भी थे राग द्वेष से धर्माधर्मादि पैदा होना धर्माधर्म शरीर होना ये भी नहीं है आत्मनो आदि नाम का राग आदि राग द्वेष आदि भी नहीं कर रहा है ऐसे होने से स्वरूपावस्थान में रहना अपने स्वरूप स्थित हो गया वो नित्य कर्म कर रहा है निषिद्ध नहीं करता काम्य कर्म नहीं करता और प्रारूप का वर्तमान शरीर से भोग करके समाप्त कर दिया राग द्वेष नहीं कर रहा है स्थिति में तो स्वरूपावस्थान में कैबल्यम सो अपने स्वरूप में स्थित होना होता है उस काल में क्या होता है उसका यही तो कैबल्य है मोक्ष यही तो है अपने आप हो गया कैबल्य उसका अपने आप है तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं है ये मीमांस को लोग कहते हैं कैबल्य अयत्न सिद्धम कैवल्यम बिना प्रयत्न सिद्ध है मोक्ष ज्ञान के लिए प्रयत्न करने की आवश्यकता ही नहीं है अयत्न सिद्धम कैवल्यम कहा बिना प्रयत्न सिद्ध है कैवल्यम केवल नित्य कर्म करता रहे प्रतिभा ना जाए इसके लिए बाकी सारा कर्म अपने आप समाप्त है काम में नहीं करता निषिद्ध नहीं कर रहा है प्रारंभ या भोग करके समाप्त कर रहा है तो बिना प्रयत्न सिद्ध है मोक्ष इसलिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं है मोक्ष मैं है अब प्रश्न उठता है कि नहीं संचित कर्म जो होंगे उससे तो हो सकता है भावी शरीर जो तो वर्तमान कर्मों को लेकर के चर्चा हुई संचित कर्म है अनेक जन्म के जो खाते में पड़े हैं फिक्स डिपोजिट वाले हैं सारे के सारे तो वो कर्म तो होंगे एक ऐसी शंका करे सिद्धांत के बोले अतिक्रांत अनेक जन्म जन्मांतर कृत स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति फल से अनारब्ध कार्य से उपभोग अनुपत्य है भाव चेत ये सिद्धांत है यहाँ एक देशी बोल रहा है सिद्धांत है पूर्व में अनेक जन्म जो बीत चुके हैं अनादिकाल से जन्म लेता रहा कुछ न कुछ कर्म होता रहा पुण्य पाप होता रहा है अति अतिक्रांत अनेक जन्म जो बीत गया जो अनेक जन्म बीता हुआ है अनादिकाल से चल रहा है कर्म करता आया है जन्मांतर अनेक जन्म में किया गया जो कर्म है स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति फल से जिन कर्मों का फल होगा स्वर्ग प्राप्ति या नरक प्राप्ति फल होगा पुण्य पाप कर्म जैसे किया होगा अनारब्ध कार्य से जिसका कार्य अभी फल देने के लिए उन्मुख नहीं अभी सुप्त प्रसुप्त अवस्था में पड़े जो कर्म अभी सुख दुख देने के लिए तैयार नहीं हुए संचित खाता में पड़े हैं तो स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति फल वाले जो कर्म है अनारब्ध कार्य से जिसका कार्य फल दुख सुख दुख उत्पन्न आरंभ नहीं हुआ अभी तो उपभोग अनुपत्ति उनका तो उपभोग नहीं हो पाएगा ना वर्तमान जन्म में कैसे उन संचित कर्मों का जो फल है सुख दुख ये वर्तमान जन्म में भोग होना संभव नहीं तो प्रारब्ध कर्म का फल भोग रहा है यहां तो।, तो क्षयाभाव उन कर्मों का क्षय होना संभव नहीं तो वो कर्मों के आधार पर पुण्यपाप जो संचित है उनके आधार पर भावी शरीर होना है तो कैसे कर्म कि कर्म से मोक्ष कैसे होगा और वो कर्म एक नहीं अनेक है संचित कर्म इति चेत ऐसा कोई बोले मारे एक देशी ऐसा बोले तो पूर्वादि बोलेगा मीमांसा बोले ना ऐसा नहीं नित्य कर्म अनुष्ठान आयस दुख उपभोग से तत्फल उपभोग पुत्य कहते हैं वर्तमान में जो नित्य कर्म कर रहा है नित्य कर्म करने में जो परिश्रम हो रहा है परिश्रम देने में दुख है वो जो संचित कर्म का फल यही है अभी जो कर्म कर रहा है कर्म करते समय जो दुख है कष्ट है हाँ, नित्य कर्म करना करने से जो आयास परिश्रम है तजन जो दुख हो रहा है अभी ये दुख तो संचित कर्म का फल है जितने संचित कर्म है उसका फल यही है तो आगे कर्म रहा ही नहीं पूर्वकृत कर्म भी भोग गए वो नित्य कर्म के परिश्रम से होने वाला जो दुख है वही फल है उसका तो यही समाप्त है तो ज्ञान की आवश्यकता नहीं मोक्ष के लिए ऐसे मीमांसक की ओर से शंका है यही है नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखों के भोग से नित्य कर्म कर वर्तमान भी तो नित्य कर्म कर रहा है उससे तजन्य जो परिश्रम है आयास है तजन्य दुख परिश्रम से दुख कष्ट होगा वही तत्फल उपभोग करते कहा उसका फल किसका फल पूर्वकृत संचित कर्मों का फल यही है तो संचित कर्म भी आपके शरीर ने इसी शरीर में पूरा कर दिया होगा संजित कर्म का फल भी भोग लिया अब कारण है ही नहीं कोई इसलिए अनायास मोक्ष हो जाएगा बिना परिश्रम मोक्ष हो जाएगा मोक्ष के लिए कोई ज्ञान के प्रयत्न करने की आवश्यकता परिश्रम के लिए आवश्यकता नहीं ये मीमांसा कहते हैं अथवा प्रायश्चित के समान है नित्य कर्म कैसा है प्रायश्चित के समान है जैसे पाप होने पर प्रायश्चित किया जाता है पाप नाश के लिए इसके बाद पूर्वकृत जो संचित कर्म उसके नाश के लिए नित्य कर्म किया वर्तमान में नित्य कर्म किया जा रहा है प्राश्चित के समान समझो या तो उसी नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम है तजन्य दुख पूर्वकृत संचितों का फल मानो या तो प्राश्चित के समान मानो इसके नित्य कर्म को माने पूर्वकृत जो पाप पुण्य है माने उसके समाप्त करने वाला है यह प्राश्चित हो जाएगा यही है प्रायश्चित अथवा प्रायश्चित के समान पूर्व उपात दूरित क्षयार्थत्वात नित्य कर्मा कहते हैं देखो नृत्यकर्म कर्म क्या काम करते हैं जैसे प्रायश्चित होते हैं पहले पाप किया हुआ था पाप था उसके नाश के लिए होते हैं प्रायश्चित ठीक इस प्रकार पूर्व उपात पहले ग्रहण किया हुआ पहले से आगमन किया हुआ है दूरित जो मान पाप है उसके क्षय के लिए होता है नित्यकर्म तो ये पूर्व संचित कर्म का नाश के लिए हो जाएगा प्रायश्चित समान हो जाएगा नित्य कर्म तो नित्य कर्म से ही वो भी समाप्त हो जाएगा ये कहना है आरब्धानाम तो उपभोगे तो नहीं वह कर्मणाम क्षीणत प्रारब्ध कर्म जो थे जो प्रारब्ध कर्म था वो तो भोग के द्वारा यही क्षीण हो गया समाप्त हो गया अपूर्वाणाम और अपूर्व आगे मैं अभी नहीं हुआ जो कर्म आगे होने वाले हैं हम्म। अपूर्वाणाम अनारंभ अनारंभे अपूर्व कर्म करता नहीं प्रारूप तो भोग से चय कर दिया जो पहले नहीं किया वर्तमान में कोई कर्म ऐसा कर्म करता नहीं अपूर्व कर्म करना यहां जो पहले नहीं हुआ ऐसा कर्म नहीं कर रहा अभी अपूर्वाणाम से कर्मणाम है अयत्न सिद्धम कैवल्यम ये मीमांस बिना प्रयत्न सिद्ध है कैवल्य मोक्ष बिना प्रयत्न सिद्ध है उसके लिए ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है तब अब सिद्धांत बोलते हैं ना ऐसा नहीं तमेव विदित अतिवृत्ति व्यवती नान्य पंथा विदित आयनाय ऐसा है शता परिषद में है तमेव विद्वा मृत्युम अत्येति तम एव परमात्मा ने विदित्वा जान करके उसी के ज्ञान प्राप्त करके मृत्युम अत्येति मृत्यु को अतिक्रमण करता है अतिवृत्ति होती में अति को एति के साथ क्रिया कर लगाना एति क्रिया के साथ अति को जोड़ना होगा तो ते प्राण धातु है जो जिनकी गति संज्ञा उपसर्ग संज्ञा होती है वो धातु के पहले लगाया जाता है ते प्राण धातु सूत्र है तो मृत्यु अत्येति ऐसा मृत्यु को अतिक्रमण करता है उसी को जान करके नान्य पंथा विदिते अनाया उसके प्राप्ति के लिए आत्मा प्राप्ति के लिए अन्य मार्ग कोई भी नहीं है एक ही मार्ग है उसको जानना मान ज्ञान से ही मोक्ष है कहना है कर्म से मोक्ष नहीं है ऐसा श्रुति बोल रही है यही कहना है सिद्धांत का कहना है तुम तर्क से बोल रहे हो माने बिना ज्ञान मोक्ष मिल जाएगा किंतु तो श्रुति बोलती है तमेव विद्वाच मृत्यु वेती धान्य पंथा विद्य विद्याया अन्य पंथा मोक्षा न विद्यते यही श्रुति का कहना है ज्ञान से अतिरिक्त मार्ग मोक्ष के लिए नहीं है एकमात्र मार्ग है ज्ञान जीवात्मा परमात्मा का ऐक्य ज्ञान मैं हूं यह ज्ञान है जीवात्मा का ज्ञान है परमात्मा है यह भी ज्ञान है सनातन धर्मावलंबी को यह भी ज्ञान है परमात्मा है किंतु मैं वही परमात्मा हूं यह ज्ञान नहीं है अपना ज्ञान भी है परमात्मा सम्मति ज्ञान भी है किंतु ऐक्य ज्ञान नहीं है वो जो ऐक्य ज्ञान होगा हम ब्रह्मास्म ज्ञान इसी को मोक्ष का साधन माना हुआ है विद्याया अन्य पंथा मोक्ष न विद्यते श्रुते है कहा श्रुति में ऐसा आया है ज्ञान से अतिरिक्त मार्ग मोक्ष के लिए नहीं है एक ही मार्ग है ज्ञान हृदय ज्ञान न मुक्ति आदि श्रुति है और चर्मवत आकाश वेष्टन असंभववत जैसे कोई आकाश को चमड़ी के समान लपेट सकता हो आकाश को किसको जैसे चमड़ा लपेटा जाता है चटाई आदि लपेटी जाती है इस पर आकाश को कोई लपेट सकता हो तो उस देवता को जाने बिना उस आत्मदेव को जाने बिना मोक्ष संभव है किंतु आकाश को लपेटना संभव नहीं है ठीक प्रकार उसको जाने बिना मोक्ष भी संभव नहीं ये सूत्र परिषद वाक्य है अर्थ से पढ़ रहे चर्मवध आकाश वेष्टन असंभवत जैसे चर्म के चमड़ी के वेष्टन करना जैसे सरल है चर्म वेष्टन सरल है आकाश को वेष्टन उस प्रकार नहीं किया जा सकता ठीक इसी प्रकार असंभव है इस प्रकार उस आत्मा को जाने बिना मोक्ष भी असंभव है असंभव अविदुषो तो जो अज्ञानी है अज्ञानी को मोक्ष असंभव हैं मोक्ष के लिए असंभव किया कहा है हम्म, ये सूर्य में कहा यदा चर्म बलाकाशम दृष्ट मानव वह देव अभिज्ञा दुख शांतो भविष्य श्वेता शुरू परिषद वाक्य है ऐसे कोई व्यक्ति चाहता हो मैं आकाश को लपेटू किस प्रकार सबड़ी के समान जैसे सबड़ी आदि को लपेटा जा सकता है उसको आकाश को लपेटने का प्रयास करता हो तो ये प्रयास सफल होता हो तब उस देवता को जाने बिना उस आत्मदेव को जाने बिना दुख का अंत हो सकता है मोक्ष मिल सकता है किंतु असंभव है आकाश को लपेटना असंभव है इस पर आत्मा को जाने बिना मोक्ष भी असंभव है ये श्वेतास्त्र वाक्य है कहा विद्याया अनुपथान थी श्रुते सर्ववध आकाश वेष्टन असंभव जैसे चमड़ी के समान आकाश को वेष्टन करना लपेटना असंभव है ठीक इसी प्रकार अविदुषो तो जो अज्ञानी है उसको मोक्ष असंभव है मोक्ष असंभव है अज्ञानी माने आत्मज्ञान नहीं है जिसको उसके लिए मोक्ष असंभव है तो ज्ञान से मोक्ष बता रहे श्रुति और तुम कहते हो कि ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं है असंभव श्रुति ज्ञान आप कैबल्य आप ज्ञान से ही कैबल्य को प्राप्त करेगा मोक्ष प्राप्त किसे करेगा ज्ञान से इति च पुराण स्मृतेर अनारोध फलाना पुण्यानाम कर्मणाम स्वयं प्रतिना पुराण और स्मृति में कहा ज्ञानादेवित कैबल्यम क्या कहा पुराणों में भी ये बात आती है और स्मृतियों में भी है ज्ञान ज्ञानादेवित वैकल्यम ऐसा है ज्ञान से मोक्ष है अन्य किसी साधन से मोक्ष नहीं है हाँ परंपरा से साधन है ज्ञान के साधन कर्म होता है परंपरा से साधन है मोक्ष का कर्म साक्षात नहीं साक्षात तो ज्ञान है मोक्ष के ठीक पूर्व सीढ़ी में ज्ञान यही है ज्ञानाद ज्ञानाद कैबल्य आप नीति जो ज्ञान से ही कैबल्य प्राप्त करता है इस प्रकार पुराण स्मृति पुराण में भी है स्मृतियों में भी है बात और अनारब्ध फलानाम पुण्यकर्माम से चलो नित्य तुम्हारा एक तर्क था मीमांसाओं का तर्क था नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम होता है कष्ट होता है तजन जो तो दुख है परिसर वो है पूर्व कर्म का फल ये तुमने कहा था संचित कर्मों का फल तो कहते नहीं अनारोध फलानाम पुण्यानम कर्म से अगर ये जो माना जाए कि नित्य कर्म करते समय परिश्रम है जो दुख है दुख किसका फल होगा पाप का फल होगा यदि संचित कर्मों का फल माना भी जाए वो तो पाप वाले कर्म का फल होगा किसका होगा हाँ, नित्य कर्म करते समय जो दुख कष्ट है वो कष्ट फल है किसका होगा यदि माना जाए संचित कर्म का फल है माना जाए तब भी पाप का ही होगा पुण्य का तो नहीं होगा फिर भी तो पुण्य कर्म तो बच जाएंगे संचितों में से उसके कारण शरीर होगा कैसे मोक्ष होगा ये सिद्धांत बोल रहे हैं अनारब्ध फलानाम अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्म जो आरब्ध नहीं हुआ फल अभी जिसका प्रारंभ नहीं हुआ पुण्यकर्म संचित खातों में पड़े हुए हैं वो जो पुण्यकर्म है उनका क्षय अनुपत्य से भोगे बिना क्षय नहीं होगा भोगना पड़ेगा यदि पाप कर्म क्षय भी हो जाए तुम्हारे कथन के अनुसार नित्य कर्म वर्तमान में नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम हो रहा है परिश्रम का जो दुख है वो पूर्वकृत पाप का फल यदि माना भी जाए फिर पुण्य कर्म का फल तो नहीं होगा ना हम्म। कष्ट दुख उसको सुख होना है उसका तो उसके लिए तो शरीर होगा फिर कैसे ज्ञान के बिना मोक्ष होगा भाई ये कहना है सिद्धांत कह रहे हैं टीका में देख रहे हैं तरी देहांतरम शेष कर्मा सात ने मैंने मुयांशों ने कहा था नित्य कर्म करता रहता है इसलिए प्रतिभा नहीं होगा और निश्चित कर्म नहीं करता अनिश्चित स्थिति की प्राप्ति नहीं होगी काम्य कर्म नहीं करता इष्ट शरीर की प्राप्ति भी नहीं होगी और वर्तमान में जो भोग के द्वारा प्रारंभ कर्म समाप्त कर देता फिर अनायास मोक्ष है तो उसका उत्तर में एक देश ने कहा तभी देहांतरम शेष कर्म से बाकी कर्म तो रहेगा ना उन कर्म से देहांतर हो अन्य शरीर हो इस एक देश ने सका कि कहते कर्माशय एक भाविक एक भविकत्वात्यत्य कहते कर्म जो शेष कर्म जितने बचे थे इसी शरीर में पूरा एक ही एक ही शरीर में पूरा हो जाता है सारे कर्म यही समाप्त हो जाते हैं अन्य कर्म रहेगा ही नहीं शेष कर्म रहेगा ही नहीं क्यों आरब्ध कर्म यही समाप्त है शेष कर्म कोई रहेगा ही नहीं ठीक तो है एक भवि मैंने एक ही शरीर में होने वाले को एक भवि कहते हैं यहीं पर सारे कर्म समाप्त हो जाते हैं एक तो भविकत्वाद कहा था न इत्या का पतिते अस्मिन शरीर ही कहा था सारे कर्म ये भोग दिया उसने शरीर में भोग दिया पतिते अस्मिन शरीर देहांतर उत्पत्त हो कारण अभाव अन्य शरीर उत्पत्ति के कारण रहे कर्म है नहीं कोई तो आत्मनो रागादि नाम से और आत्मा में राग आदि नहीं राग द्वेष आदि नहीं करता तजन्य पुण्यपाप होता पुण्यपाप जन्य मैंने शरीर आदि होने की संभावना थी वो भी नहीं राग आदि भी नहीं कर रहा है तो स्वरूपावस्थान में कैवल्यम अपने स्वरूप में स्थित होना है कर्म है ही नहीं उसके पास ये कहा है मीमांसा पूर्व से कहा अयत्न सिद्धम कैवल्यम बिना प्रयत्न सिद्ध है मोक्ष तो ज्ञान के लिए ज्ञान की आवश्यकता नहीं मोक्ष के लिए ये कहा आत्मना स्वरूपावस्थान में समझा अच्छा ठीक पहले टीका रागादिना कर्मांतरम तत्व देहांतरम से भविष्य सिद्धांतिक वर्ष में एक दिशी शंका करें रागादि के कारण जन्मांत देहांतर हो सकता है अथवा अन्य कर्मों से हो सकता है रागादि के कारण अन्य कर्म करेगा राग द्वेष होने पर कर्म करेगा कर्म करने से फिर शरीर हो सकता है राग द्वेष निमित्त कर्म कर्म निमित्त शरीर एक दिशा कहा तो कहते हैं राग आदि नाम अगर राग द्वेष करता ही नहीं रागद्वेश के कारण कर्म होता वो कर्म है ही नहीं अब रागद्वेश नहीं तो कर्म कहां से है तो रागद्वेश जन्य कर्म जन्य भी शरीर होने की संभावना नहीं है प्रारूप सारा ने भोग दिया है तो अनायास मोक्ष है ये कहना है आत्मा ना स्वरूप अवस्थान में समझ आत्मा को जो है ना स्वरूप में अवस्थान अवस्थिति में रहना वही है मोक्ष तो शरीर आदि होने की संभावना नहीं है ये मैं मोक्ष कहा फिर एक ऋषि बोले कि भाई अतीत असंख्य जन्म भेदेशु अर्जित हो नाना फल से अनारब्ध भोगे न बिना अक्षयात तथो देहांतर आरंभात ऐक भविकत्व अप्रामिकवात न मुक्तेर अयत्न सिद्धता चोदयती एक देशी प्रश्न करते हैं सिद्धांत एक देशी बोलते हैं देखो अतीत जो असंख्य जन्म हुआ है पूर्व जन्म असंख्य जन्म हुआ है इस शरीर से पूर्व में अनादिकाल से न जाने कितने जन्म हुए उनमें कितने पाप हुआ कितना कर्म हुआ भिन्न भिन्न फल वाले कर्म है एक ही फल वाले कर्म नहीं है ये कहते हैं अतीत असंख्य जन्म भेदेशु अर्जुत पूर्व में किया हुआ जो असंख्य जन्म विशेष में जो किया हुआ है अर्जन किया हुआ कर्म है नाना फल से एक ही फल वाले नहीं हो कर्म अनेक जन्म में किया हुआ कर्म अनेक प्रकार के फल वाले हैं वो भिन्न भिन्न फल वाले कर्म हैं अनारब्ध से अभी आरंभ नहीं हुआ फल देने के लिए संचित खाते पड़े हुए हैं वो अनारूढ़ भोगे न बिना अक्षय भोग के बिना उनका नाश न होने से क्षय नहीं होगा कौन जो अतीत जन्म अतीत कर्म हुआ पूर्व जन्म किया हुआ कर्म है नाना फल वाले हैं नाना कर्म है उनका भोग के बिना नाश नहीं होना है जिसमें आरब्ध नहीं हुआ वेग आरंभ नहीं हुआ फल देने को उन्मुख नहीं है प्रसुप्त अवस्था में बैठे हुए हैं जो पड़े हैं तो अक्षय हाँ, ततो देहांतर आरभा उन्हीं कर्मों से देहांतर हो जाएगा अन्य शरीर हो जाएगा भावी शरीर और हो जाएंगे उन कर्मों के आधार पर इस शंका है सिद्धांत की एकदेशी का तो ऐक भविकत्व से अप्रामणिकत्व जो तो एक ही शरीर में सारे कर्म का फल भोगना जो माना जाता है भविष्य के लिए कुछ रहेगा ही नहीं ये प्रामाणिक नहीं है अप्रामाणिक है एक भविक जो माना जाता है एक ही शरीर में जितने कर्म थे हाँ, सबके सब फल एक ही शरीर में भोगना वो संभव है अब प्रमाणीकरण न मुक्ति आयत्न तो सिद्ध मुक्ति आयत्न तो सिद्ध नहीं है एक देशी ने प्रश्न किया एक अर्थ है प्रश्न क्या है अतीत अतिक्रांत अनेक जन्मांतर कृत से कहा था जो बीत गए अनेक जन्म बीते हुए अनादिकाल से चल रहे हैं तो उनमें किया हुआ जो कर्म है कैसे कैसे कर्म है स्वर्ग नरक आदि प्राप्ति फल से कोई कर्म स्वर्ग फल के लिए है कोई कर्म नरक फल के लिए है पाप पुण्य किया हुआ ही से अनारब्ध कार्य से जिसका फल उन्मुख नहीं हुआ अभी कार्य फल है उन्मुख नहीं हुआ है संचित खाते पड़े हुए हैं उपभोग अनुपत्ति है उपभोग होना संभव नहीं उसका उन कर्मों का यहाँ एक ही शरीर में भोगना संभव नहीं है क्षयाभाव इसलिए क्षय नहीं कर पा तो है तो उसके कारण से शरीर होगा आगे इष्टानिष्ट शरीर होगा तजन फल होगा तो ये कहा तो वो बोलेंगे ना बोलेंगे मैं वहां मीमांसा करके नहीं कहा ठीक है मैं न उगत कर्म निमित्तम देहांतरम संचित कर्म निमित्तम शरीर नहीं होता देहांतरम संगीत वैसा शंका नहीं करनी चाहिए संचित कर्म को लेकर के हाँ, आगे शरीर होगा ये शंका नहीं क्यों वर्तमान में जो नित्य कर्म करता है उस समय जो परिश्रम होता है परिश्रम करने से दुख होगा वही है पूर्व संचित कर्म का फल यह भोग लिया उसने वो दुख रूप में भोगा हुआ यह तो आगे के लिए कोई है ही नहीं यही कहना होगा न कर कहा नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख उपभोग से तत्फल भोग उपत्य ही कहा था नित्य कर्म जो वर्तमान में कर रहा है तो उसमें जो आयास हुआ है अनुष्ठान के समय परिश्रम हुआ है नित्य कर्म करते समय तजन दुख है उपभोग कर दुख का भोग तो हो रहा है तो तत्फल भोग उपत्य जो तो संचित कर्म का फल उपभोग यहां हो जाएगा ये कहा टीका में कहते हैं नित्य नैमित्तिक कर्माणी नित्य कर्म का नैमित्य कर्म भी है नित्य नैमित्तिक दो प्रकार के कर्म है श्रोतानी श्रुति में आए हुए कर्म है अवश्य अनुष्ठानी अवश्य अनुष्ठय है तद अनुष्ठान है तो जब अनुष्ठान में बैठेगा उस नित्य नैमित्तिक कर्म के अनुष्ठान करेगा महान आयास थोड़े परिश्रम ने बहुत बड़ा परिश्रम होता हुआ सुबह सुबह जाओ नदी में स्नान करो ये करो सो करो नदी में खड़े होकर के संध्या बंदन आदि करो न जाने कितने हैं वहां महान आयास बहुत परिश्रम है नित्य कर्म करते समय नित्य निमित्त कर्म करते समय में तत्व उससे क्या होगा उस आयास से तथा बने उस आयासात दुख उपभोग दुखी भोग उपभोग आया दुखी दुख होगा उस साधक करने वाले को नित्य कर्म करने वाले को तस्य जो दुख का उपभोग है वही उक्त अनारब्ध कर्म फल भोगत्व भगवान जो पूर्व में कहे हुए जो अनारब्ध कर्म संचित कर्म है उसका फल वही है वर्तमान में नित्य करते कर्म करते समय जो परिश्रम हुआ है परिश्रम जन्य जो दुख है वो दुख पूर्वकृत कर्म संचित कर्म का फल है तो संचित कर्म भी नहीं रहे और आगे नहीं रहेंगे यही दुख भोग करके समाप्त हो जाएगा उनका तर्क यह है न तो, तो देहांतर इसलिए पूर्व संचित कर्म से अन्य शरीर हो यह भी शंका नहीं करनी चाहिए नित्य इत्यादि कहा था ये कहा था नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख भूभोग तत्फल भूभोग तो उपत्य कहा था ठीक है नित्यादि ना दूरित निवृत्त होते नित्य कर्म नैवित्य कर्म आदि से नैमित्त ये दो कर्मों के मन से दूरित निवृत्त हो गई पाप कर्म यदि निवृत्त हो भी जाए सिद्धांति को शंका है एक देशी को मान पूर्व संचित में से दो है दो प्रकार के हैं सुकृत और दुष्कृत है दूरित मान दुष्कृत पाप कर्म निवृत्त हो भी जाए यदि मान लिया जाए यद्यपि हम नहीं मानते उस बात आप मान रहे हो निवृत्त हो भी जाए अविरोधात सुकृत न सुकृत निवृत्ति माने विरोध नहीं है नित्य कर्म और पूर्वकृत जो सुकृत कर्म पुण्य कर्म विरोध नहीं इन दोनों में दोनों धर्मरूप कार्य है तो एक तो पाप होने से तो मान भी लेते हैं इसके द्वारा नाश हो जाएगा वो विरोधी है ये ये सुकृत है पुण्यकर्म है नित्य कर्म इसके द्वारा पाप कर्म का यदि नाश हो जाए पुण्य कर्म से तो विरोध है ही नहीं ये भी पुण्य वो भी पुण्य विरोध नहीं अविरोधात ये कहा न सुकृत निवृत्ति फिर भी संचित खाते में पड़ा हुआ सुकृत कर्म पुण्य कर्म तो निवृत्त नहीं होगा तत्व देहांतरम फिर उसके द्वारा शरीर हो जाएगा आगे भावी शरीर में यहीं से कैसे मोक्ष होगा नायास एक ने कहा तो पूर्वाजी बोलता है सुकृत से नित्याग अन्य जो सुकृत बोलते हैं पूर्व संचित कर्म को जो सुकृत अंश में आया हुआ है पुण्य कर्म में आया हुआ है नित्य कर्म से पृथक है कि अपृथक है वो ये पूर्वादि तो शंका उठाता है विकल्प करता है सुकृत से नित्यादि अनित्य नित्य आदि से नैमित्तिक नित्य नैमित्तिक से सुकृत यदि पुण्य संचित जो पुण्य कर्म है यदि अन्य हो भिन्न हो तो अनारब्धत्व भिन्न भी है फल देने के लिए उन्मुखी भी नहीं हुआ है ऐसा मान ले मान लेते हो यदि पूर्व संचित कर्म पुण्य वाला है वो नित्य कर्म जो वर्तमान में हो रहा है नित्य निवृत्ति कर्म उससे भिन्न मानना और अनारोध फल मानना अभी फल देने को उमुख नहीं है मानना न्याय विरुद्ध से न्याय विरुद्ध है क्यों दोनों संचित में से एक संचित नाश हो जाता है नित्य नैवित्या के परिश्रम जन्य दुख भोग के द्वारा तो दूसरा क्यों नहीं होगा युक्ति तो समान है संचित कर्म नाश होता है दोनों नाश होगा ना न्याय विरुद्ध से तस्य असिद्धत्व ऐसा सुकृत कर्म भाई का असिद्ध है पुण्यकर्म असिद्ध है नित्य आदि से भिन्न भी हो और अनारभ फल वाला हो वो भी नित्य कर्म है था ये भी नित्य कर्म है तो कुछ तो असिद्ध है तथो देहांतर होगा जो असिद्ध कर्म हो गया सुकृत कर्म है ही नहीं सिद्ध हो गया उसे अन्य शरीर होना संभव नहीं है नित्यादेर अनिवृत्त यदि नित्य नैमित्त कर्म से पूर्वकृत जो संचित में से आया हुआ जो सुकृत पुण्य कर्म है अभिन्न है यदि इसे अभिन्न है तो अनंत नत्य से फलांतरम नित्य कर्म का जो फल आ गया वही फल से वो भी फलित हो गया फलांतर भत्वा ये मान करके यथा प्रायश्चितम उपात दूरित निर्भरातम ये प्रायश्चित बदवा कहा था जैसे प्रायश्चित किसके लिए किया जाता है पहले ग्रहण किया हुआ जो पाप था पाप हमारे पास आया हुआ था उसका नाश के लिए प्रायश्चित किया जाता है यथा प्रायश्चितम यही कहा है यथा प्रायश्चितम उपात्त दुर्ग निवारणार्थम उपात्तम है उपा और आंग दो उपसर्ग पूर्वक दादातु से ताप प्रत्यय निष्ठा प्रत्यय हुआ है हाँ। अच्छा उपसर्गा त सूत्र है अजंत उपसर्ग पर यदि हुसंगक दाधातु हो हाँ, उसके आकार को तकार हो जाता है बोलता है वो अच्छा उपसर्गा तह सूत्र है अजंत उपसर्ग से परे तो दाधातु भूसंग दादातु क्यों दादा घोतात में दो धातु की घुसंग नहीं होती दारू पवन दाप और दैत इन धातुओं की घुसंज्ञा नहीं होती तो दोनों को छोड़कर बाकी दा जो धातु होंगे दुदाय दाने आदि धातु उनकी घुसंज्ञा होती है तो दादा गोदाप सूत्र में आया हुआ है तो अच्छा उपसर्गा तह दो दत्त घो सूत्र से पूर्व से दत आता है तो दत्त के स्थान पर त आदेश करेगा दत्त न करेगा त करेगा जति सिद्धि मास्ताम मित्ति किति ती किति आएगा तादि किति तकार आदि प्रति निष्ठा प्रति तकार आदि है तो दा के आकार को हो जाएगा तकार तो खरी से द भी त बन जाएगा जरो जरी सवर्ण से तकार लोग होगा तो उपातव उप आम होता है ग्रहण किया हुआ जो पाप है प्राश्चितम है ना यथा प्राश्चितम जो प्राश्चित क्या काम करता है उपात्त दुरित निर्वहणार्थम कहते हैं ग्रहण किया हुआ जो पाप था पूर्व में किया हुआ पाप है अपने पास है उसके निवृत्ति के लिए होता है प्रायश्चित न फलांतरापेक्षम अन्य फल के लिए नहीं होता प्रायश्चित पूर्व किया हुआ पाप के निवृत्ति के लिए होता अन्य फल के लिए नहीं है प्रायश्चित जो होता है तथा इदम इस प्रकार ये नित्य कर्म भी ऐसा ही है जैसे प्रायश्चित है उसके समान है नित्य कर्म वर्तमान में जो नित्य कर्म होता है तथा इदम ये नित्य कर्म सर्वम अपनी सबके सब जो नित्य नैमित्तिक कर्म है नित्यादि कर्म जो नित्य और नैवित्तिक कर्म होते हैं ना ये कर्म जैसे पाप को नाश के लिए प्रायश्चित होता है उस प्रकार पूर्वकृत कर्मों का नाश के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म होता है ठीक दृष्टांत है पाप प्रायश्चित उपात पाप निराकरणार्थम कहते हैं जो नित्यादि कर्म है उस प्रकार पूर्व गृहित जो पाप है अनेक जन्म किया हुआ पाप है उसके माने नाश के लिए होता है निराकरण के लिए होता है तस्वीर परिवसन उसी में ही उसी पाप के फल कहां परिवेशित हो जाते हैं नित्य कर्म के करते समय जो दुख है वही दुख में परिवेशित हो जाता है न देहांतर आरंभकम देहांतर का आरंभ नहीं बनता कौन पूर्व संचित कर्म यदि पक्षांतर वहां प्रायश्चित वा कहा था तो प्रायश्चित समान मानो किसको नित्य निवृत्ति कर्म को प्रायश्चित समान मानो तथापि प्रारब्ध वसाद एवं देहांतर में संकेत एक देशी फिर शंका करे क्यों एक ही प्रारब्ध कई जन्म देने वाले होते हैं जड़ भरत आदि में देखा गया है तीन तीन जन्म दिया है जड़ भरत को एक ही प्रारब्ध ने तो तथापि फिर भी प्रारब्ध वसाद एवं जो प्रारब्ध ऐसे हैं जो आधिकारिक पुरुष होते हैं जहां ब्रह्मसूत्र आदि में चर्चा है यावत अधिकारम या आधिकारिकाणम ऐसा आता है अवस्थित यावत अधिकारम अवस्थित आधिकारिकाण देखो किसी विशेष अफिसरों को यहां से दूसरे स्थान में करना हो तो जब तक दूसरा नहीं आएगा तब तक उनको रोका जाता है यदि भी उनके यहां से अब जाने का दिन हो गया फिर भी जब तक दूसरा अधिकारी ना आए उस स्थान पर तब तक इनको यही रोकते हैं ठीक इस प्रकार जो आधिकारिक पुरुष होते हैं उपदेश करने वाले पुरुष व्यास आदि हैं इन लोगों को मुक्ति के व्यास ज्ञानी है कि अज्ञानी है प्रश्न उठता है ज्ञानी है कि अज्ञानी है जिनके शास्त्रों को लेकर के हम लोग ज्ञानी बन जाते हैं तो वो ज्ञानी नहीं होंगे क्या व्यास है वशिष्ठ है आदि आदि क्या आधिकारी पुरुष में आते हैं वो मुक्ति पहले ही थे उनकी मुक्ति ज्ञान हो गया था तो मुक्ति के अधिकारी बन गए फिर यहां क्यों उनको रोका गया है ब्रह्मा जी रोकते हैं तब तक आपको रुकना पड़ेगा जब तक दूसरा व्यास तैयार नहीं होगा दूसरा वशिष्ठ तैयार नहीं होगा तो उनके अनेक जन्म तक के एक ही प्रार्वत होता है अधिकारी पुरुषों की ये ब्रह्मसूत्र में चर्चा है तृतीय पाद तृतीय अध्याय तृतीय पाद में यावत अधिकार अवस्थित अधिकारी का तथा प्रारत तथा भी प्रारब्ध प्रसाद प्रारब्ध के बल से ही देहांतरम सक्य थे तो अन्य शरीर हो सकता है जड़ व्रत आदि की चर्चा है व्यास आदि की चर्चा है संकट की जाती है संकटे नाना जन्म आरंभ भी तेसाम कर्म जो होते हैं ना कैसे होते हैं नाना जन्म जन्म को आरंभ करने वाले भी एक ही कर्म होता है ऐसा भी कर्म है जो अनेक जन्म आरंभ कर देते हैं ऐसे है यावत अधिकारम अधिकार न्याय यही यावत अधिकार न्याय ब्रह्मसूत्र तृतीय अध्याय तृतीय पाद है यावत अधिकारम अवस्थित आधिकारिका वैसा सूत्र है यावत न्याय न्याय में नियुक्ति है ब्रह्मसूत्र है संभवाद अनेक जन्म संभव हो सकता है आशंका आरब्धानाम जब मीमांसा कहते हैं नाम च उपयोग कर्मणाम क्षीणत्वाद आरब्ध कर्म रही नहीं उपभोग क्षीण समाप्त हो गए नाम तो अन्य नया कर्म कोई कर नहीं रहा अपूर्व पहले नहीं हुआ ऐसा कर्म नया कर्म नूतन कर्म कर नहीं रहा कोई तो इसलिए कर्म कर्मणाम अनारंभ में अयत्न सिद्धम कैवल्यम इति ये कहा था कर्म के आरंभ न होने पर हाँ, अयत्न प्रयत्न सिद्ध बिना प्रयत्न सिद्ध है मोक्ष मोक्ष के लिए कोई ज्ञान आदि की आवश्यकता नहीं है ये मीमांस पर रहना है पूर्वार्जित कर्मणाम एवं क्षीणत्व भी सिद्धांत एक देशी बोले कि भाई पहले आर्जित और कर्म का क्षीण होने पर भी अपूर्व कोई कर्म करेगा अभी नया कर्म करेगा आरब्ध तो कर्म या भोग रहा है ठीक है आगे के लिए कोई कर्म इसी शरीर में करेगा अपूर्व कर्म तो उसके लिए उसके द्वारा शरीर हो तो कहते नहीं रहे अपूर्व आराम से इत्यादि का कर्म आराम करता ही नहीं अपूर्व कर्म करता ही नहीं नया कर्म कोई कर नहीं रहा पुराने कर्म भोग करके समाप्त कर दिया और संचित कर्म जो थे वो नित्य कर्म कर रहा है उसके परिश्रम से होने वाले दुख के रूप में उपभोग हो गए कोई कर्म नहीं उसके पास बिना प्रयत्न पक्ष है ये मीमांसा को कहना है तो यहां एक देशी बोले कि पूर्वार्जित कर्म आप एवं छेड़ते चलो मान लेते हैं पूर्वार्जित कर्म संचित कर्म जितते थे तुम्हारे कथन के अनुसार प्राश्चित के समान मानेंगे नित्य नैवित कर्म को अथवा मन नित्य तो करते कर्म करते समय जो परिश्रम हुआ तजन दुख है वो दुख में वो भोग हो गए क्षीण हो गए भोग लिया मान लिया मान लिया जाए फिर भी नया कर्म कोई इस शरीर में हो सकता है ना उस कर्म के आधार पर शरीर हो सकता है ये शंका है एक देशी की पूर्वार्जित कर्म नाम एवं क्षीणत्व भी पूर्वार्जित कर्म जो संचित कर्म इस प्रकार जैसे आपने कहा उस तरह क्षीण मानने पर भी नाश हो गया मानने पर भी कांचित अपूर्व का अपूर्व का कर्माणी कुछ ऐसे भी कर्म हो सकते हैं ये नया शरीर अभी वर्तमान में कर्म हो सकते हैं पुराना कर्म का भोगते हुए नया कर्म हो सकता है उसके द्वारा आगे शरीर हो सकता है तो कांचित अपूर्व कर्माणी देहांतर में आरंभ जो अपूर्व कर्म है वो देहांतर का आरंभ करे पहले नहीं हुआ जो कर्म वर्तमान में होगा जो कर्म उसके द्वारा अन्य शरीर हो इस शंका किया तो कहा था अपूर्वाणाम ये पूर्वादि मीमांसा का अपूर्वाणाम च कर्मणाम अनारंभ है अपूर्व कर्म करता नहीं अभी नया कर्म कुछ करता नहीं है पुराने कर्म सारे भोग के समाप्त कर दिया तो अयत्न सिद्धम कैबल्यम यही कहा है पूर्वादि ने बिना ज्ञानम कर्मणायोग मुक्ति पक्ष में श्रुति में अवस्थम निराशित मीमांसों का रहा बिना ज्ञान केवल कर्म से ही मोक्ष हो जाता है नित्य निवृत्ति कर्म करता रहे बाकी कर्म से बचे बस इतनी बात है इष्टकर्म नहीं करता स्वर्ग आदि शरीर होने के लिए साधन नहीं है अनिष्टकर्म नहीं करता नर्क आदि के लिए कोई साधन नहीं है नर्क जा नहीं सकता और नित्य नैमित्तिक कर्म कर रहा है जिससे द्वारा प्रतिभा पाप नहीं है पाप होता तो आगे कर्म हो, शरीर होता वो भी नहीं है और प्रारब्ध कर्म जितने थे भोग देता है सारा वहां भी आगे शरीर लिए कोई कर्म नहीं और अपूर्व कर्म ये शरीर में कोई नया कर्म कर नहीं रहा नूतन कर्म कर नहीं रहा इस शरीर में तो अनायास मुक्ति है ऐसा इनके कथन को खंडन करते हैं सिद्धांति न करके बोलते हैं यही है बिना ज्ञानम कर्मणायु मुक्ति पक्षम ये पक्ष किसका है मुंगांशों का बिना ज्ञान ज्ञान के बिना ही कर्म से ही मुक्ति ये पक्ष है श्रुति अवस्तंभे न रह सकते श्रुति के सहारे से खंडन करते हैं श्रुति बोलती है तमेव मृत्यु होती नान्य पंथा विद्युत उसी को जान करके कर्म करके नहीं बोलती है जान करके उस परमात्मा को जानकर ही मृत्यु को अतिक्रमण करता है जन्म मृत्यु रूप जो मृत्यु है जरा जन्मादि मृत्यु उसको नाश अज्ञान को नाश करता है यह अर्थ है अन्य मार्ग नहीं न अन्य पंथा अयने अयनाय मन गमनाय विद्यते अन्य उस परमात्मा में प्राप्ति के लिए जाने के लिए अन्य मार्ग नहीं है एक ही मार्ग है ज्ञान मार्ग तो श्रुति बोलती है कहा ठीक है मैं कहते हैं विद्यते अयनाय श्रुते रित संबंध है हाँ। नान्य पंथा विदते अय नाय ऐसा है माने अय जाने के लिए परमात्मा में पहुंचने के लिए अन्य मार्ग नहीं यह सूर्ति का संबंध है कहना कारार्थम विवरण न इत्यादि भागों में आते तमेव में एवकार लगाओ तमेव विदित्वा अतिवृत्ति होती है ना तम एव एवकार के द्वारा किसके निराकरण कर रहा है एवकार के अर्थ व्याख्या करते हुए न इत्यादि भागम न नान्य विद्युत नाय नकार है इत्यादि भाग में व्याख्या करते हैं देवकार के अर्थ व्याख्या करते हुए कहा अन्य कहते हैं इसको कहते हैं भाष्य में कहा अन्य पंथा मोक्ष आय न विद्यते अन्य मार्ग नहीं है मोक्ष के लिए एक ही मार्ग है ज्ञान श्रुते कहा हुआ है <clears throat> आगे सर्ववत आकाश विष्णु असंभव जैसे चमड़ी के समान आकाश को लपेटना जैसे असंभव है इसी प्रकार उस परमात्मा को जाने बिना मोक्ष के लिए असंभव है ये श्वेतासुर श्रुति है उसको अर्थ से पढ़ा था भाष्यकार ने किंतु टीकाकार श्रुति को ला करके दिखाते हैं यदा चर्मपद आकाशम व्यस्त संति मानव तदादेव अभिज्ञा दुख शांत भविष्य श्वेता स्वरूप यदा जब इतना सामर्थ्य किसी के बाद जैसे चमड़ी को लपेट रहा हो उसी प्रकार आकाश को लपेटने के साथ साहस करता कोई व्यक्ति लपेट सकता हो तब तदा तब इतने परिश्रम करके आकाश को लपेटने की समान शक्ति हो जिसके पास असंभव है तदा तब देवम अभिज्ञा आत्मदेव को जाने बिना दुख से अंतो भविष्य संसार रूपी जो दुख है इसका अंत तभी नाश तभी हो सकता है कब यदि आकाश को लपेट सकता है किसके समान हाँ चमड़ी के समान कोई कर सकता कर सकता है इस पर परमात्मा को जाने बिना दुख का अंतर नहीं होगा यही अर्थ आएगा उसके लिए परमात्मा को जानना होगा यही है इति श्रुति श्रुतिम अर्थ तो अनुमति कहा ये, ये जो श्वेतासुर श्रुति है ना उसको अर्थ से भाष्यकार बोलते हैं क्या कहा सर्ववत आकाश वैष्णव हो जैसे चमड़ी के समान आकाश को लपेटना असंभव है उसी प्रकार उस आत्मदेव को जाने बिना मोक्ष असंभव दुख का अंत होना असंभव है ये कहा श्रोतार्थ स्मृति में संवाद थे श्रुति में जो कहा है उसी को ही स्मृति में भी उसको अनुवाद करते हैं संवाद करते हैं ज्ञानादेव इत्यादि कहा था अनुवाद यही है ज्ञानाद कैवल्यम आपनोती इत्यादि ज्ञान से ही कैवल्य प्राप्त करता है अन्य से नहीं कैवल्य मान मोक्ष पुराण स्मृति पुराणों में है स्मृतियों में है ये बात अनारोध फलानाम पुण्यना पुण्याणाम कर्मणाम सेवन प्रत्यय से करते और अनारोध फल वाले हैं ना जितने कर्म है संचित कर्म पुण्य कर्म यदि संचित पाप नाश भी हो जाए नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम जन्य दुख है उसके माध्यम से नाश मान फल मान लिया जाए फिर पुण्य कर्म तो रह जाएंगे ना पुण्य कर्म से पुण्य कर्म का नाश तो नहीं होगा नित्य कर्म पुण्य कर्म है उसके द्वारा संचित पुण्य कर्म नाश तो हो नहीं होगा यदि पाप का नाश मान भी लिया जाए यदि नाश नहीं होता नावोक्तम क्षेत्र कर्म कल्प कोटि सतही रपी हाँ, बिना भोगे कर्म का नाश नहीं होता चाहे एक करोड़ जन्म बीत जाए उसको नाश करने का एक उपाय ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणी भस्मसात कर देता था उसको नाश करना हो तो ज्ञान रूपी चिन्हकारी चाहिए उसको कर्म से कर्म नाश नहीं होगा विरोध नहीं है ये सारी बातें हैं ठीक है मैं कहा किंतु त्वदीय न्याय से तुमने जो युक्ति बताई क्या युक्ति मुक्ति के लिए युक्ति बताइए नित्य कर्म करता रहता है प्रतिभा नहीं होता में कर्म नहीं था इष्ट शरीर होना संभव नहीं प्रतिषिध कर्म नहीं करता अनिष्ट शरीर होना संभव नहीं और संचित कर्म प्रारब्ध कर्म है भोग से समाप्त कर देगा यदि संचित कर्म मान लेते हैं तो नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम जन दुख है वही उसका फल है समाप्त हो गया संचित भी नहीं है यही युक्ति बताई तुमने तो दी आयश्य का तदीय न्याय से तुम्हारी जो युक्ति है मीमांसा की जो युक्ति है वह अनुग्राह्य मान ही न देखो युक्ति को सिद्ध करने अनुग्रह प्रमाण होना चाहिए प्रमाण बिना के युक्ति को माना नहीं जाता प्रमाण सिद्ध होना चाहिए युक्ति तो अनुग्राह्य मानहीन अनुग्राह्य उसके लिए अनुग्रह करने वाला प्रमाण रहित होने से तुम्हारी युक्ति में प्रमाण रहित है होने से आभासतया यत्वाभाष है युक्ति आवास है क्या वो युक्ति का आभास है वो युक्ति नहीं है जैसे हेत्वाभास होता है युद्ध हेतु जैसा लगता है हेतु नहीं होता युक्ति आभास है पुण्यकर्माम आरब्ध फलानाम क्षया भावे पुण्यकर्म जो अनारब्ध फल वाले हैं जिनका फल अभी आरंभ नहीं हुआ है संचित पुण्यकर्म है क्षय क्षय का अभाव होने नाश का अभाव होने पर देहांतर समवाद देहांतर की संभव है ना उससे तो देहांतर होने की संभावना है फिर कैसे मुक्ति हो गई मुक्ति नहीं हो सकती न ज्ञानम बिना मुक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति होना संभव नहीं ये सिद्धांत ने कहा अनारब्ध इत्यादि कहा हुआ था क्या था अनारब्ध फलानाम पुण्यानाम कर्मा क्षण प्रत्यक्ष कहा था ठीक है आगे तथा विधानम कर्मान नाथी संभावना यदि आशंका मीमांसा बोलता इस प्रकार के कर्म होते ही नहीं अनारोध फल वाले कर्म कोई पुण्य कर्म होते ही नहीं तथा विधान कहा उस जैसा आप बता रहे ऐसा कर्म होता ही तथा विधान कर रहा हूं नास्ती संभावना संभावना ही नहीं उनकी तो इस प्रकार कर्म कोई है ही नहीं ऐसे शंका मीमांसा करें तो सिद्धांत बोलते यथा इत्यादि कहा ये कहना चाहते हैं यथा पूर्व पूर्व उपात्ता नाम दुरीता नाम अनार्वत फलानाम संभव तथा पुण्य पुण्यानाम अपनी अनार्वत फलानाम से संभव सिद्धांत जैसे तुमने स्वीकार किया पहले ग्रहण किया हुआ पाप कर्म स्वीकार करके उसके फल बताया क्या बताया नित्य कर्म करते समय दुख ये बताया वही फल है बताया जैसे तो पाप कर्म को तुम मानते हो संचित पाप को उस प्रकार संचित पुण्य को मानना पड़ेगा पाप किया पुण्य भी किया होगा अनेक जन्मों में यही कहना चाहते यथा पूर्व पूर्वोपात आना पूर्व गृहित आना पहले जो ग्रहण किया हुआ पाप है ना दुर्ता नाम पाप आना पाप कर्म का अनारोध फला नाम अभी वर्तमान जन्म में जो फल नहीं दे रहे हैं जो संभव जैसे संभावना उनकी है पाप कर्मों की संभावना है ठीक इस प्रकार तथा पुण्याणाम अभी जो पुण्य कर्म है पूर्व संचित पुण्य कर्म है उनका भी अनारोध फलानाम जिसका फल देना अभी आरंभ नहीं हुआ है प्रसुप्त रूप में बैठे हैं उनका भी संभव संभव हो संभव है तो पुण्य कर्म रहेंगे तो आगे शरीर होगा फिर ज्ञान के बिना मुक्ति कैसे ये सिद्धांत का कहना है तेषाम से देहांतरम अर्थ जो पुण्यकर्म रह गए यदि संचित पुण्यकर्म तो देहांतरम अर्पित अन्य शरीर बनाए बिना देहांतर किए बिना क्षय अनुपत्त क्षय होना नाश होना समूह नहीं उन कर्मों का मोक्ष अनुपत्ति इसलिए मोक्ष नहीं हो सकता कर्म से ये सिद्धांति बोल रहे हैं धर्माधर्म हेतु नाम से राग द्वेष मोहानाम देखो धर्माधर्म के कारण राग मोह इत्यादि होते शरीर में आत्मबुद्धि ये भी अन्यत्र आत्मज्ञान आत्मज्ञान के बिना नाश नहीं होना इसको शरीर आदमी जो आत्मबुद्धि है वह और धर्माधर्म भी तब तक होता रहेगा शरीर से कुछ न पुण्य पाप कर्म होता रहेगा जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तो ये भी अभी आपके पास है धर्माधर्म के कारण पड़े हुए हैं जब तक कब तक जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक ये कारण रहेंगे कौन राग द्वेष मोह पड़े रह, हो, होते रहेंगे राग है तो कर्म करेगा कर्म करने से आगे शरीर के लिए सामान सामग्री तैयार कर दिया द्वेष है तो कर्म करेगा तो कर्म करने से आगे शरीर के लिए मटेरियल तैयार हो गया मोह है शरीर में अज्ञान से मोह है आगे शरीर के लिए कर्म है तो धर्माधर्म के जो कारण होते हैं कौन राग द्वेष मोह यह अभी विद्यमान है ये होने पर आगे कर्म हुए बिना नहीं रहेगा कैसे यहां पर मुक्ति मानते हो तुम कर्म ज्ञान के बिना ये कह रहे सिद्धांत धर्माधर्म तो हेतु नाम रागद्वेश नाम अन्यत्र आत्मज्ञान उच्छेदन पदे आत्मज्ञान से अन्य कहीं भी इनका उच्छेद होना संभव नहीं किसी से भी हो नहीं सकता कर्मादि से नहीं हो सकता आत्मज्ञान से होना इनका नाश किसका जो धर्म और धर्म के जो कारण बनते हैं लिप्त बनते कौन राग द्वेष मोह इनका उच्छेद आत्मज्ञान के बिना हो नहीं सकता तो तब तक कर्म होता रहेगा आत्मज्ञान जब तक न हो फिर मोक्ष कहां से मोक्ष होना संभव नहीं है प्रत्येक धर्माधर्म उच्छेद अनुगत जब रागवेश बना रहेगा तो धर्माधर्म का उच्छेद हो नहीं पाएगा कारण है तो कार्य होता रहेगा तो धर्माधर्म उच्छेद नहीं है तो कर्म करेगा धर्म किया पुण्य किया अधर्म किया पाप किया उसके कारण शरीर कहां से मोक्ष बोल रहे हो नित्यानाम से कर्मणाम पुण्य लोग फलश्रुते और दूसरी बात तुम कहते हो नित्य कर्म का फल नहीं है बोलते हो जो नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम होता है तजन जो दुख है वो तो पूर्वकृत संचित का दुख मानते हो तो वो फल है मानते हो नित्य का फल किंतु नित्य कर्म के द्वारा नित्य कर्म का फल सुनाई पड़ा है पुण्यलोक स्वर्गलोक ये कहा है कर्मणा पितृलोक का है ना तो कर्म से क्या प्राप्त है स्वर्गलोक तो कर्म का फल सुनाई पड़ा है नित्यानाम च कर्मणाम पुण्यलोक फल सुते कहा हुआ है पुण्यलोक फल सुनाई पड़ा है स्वर्गलोक नित्य कर्म का फल और तुम कहते तो फल नहीं है नित्य कर्म का फल नहीं बोलते हो वो तो पापनाश पूर्वकृत पापनाश के लिए किसके लिए मानते हो तुम प्रतिभा के निवारण का पाप न हो इसके लिए फल है नित्य कर्म का फल है तो फल है तो स्वर्ग फल है यदि स्वर्ग है तो स्वर्गीय शरीर प्राप्त करेगा फिर कर्म करेगा वो तो कर्म का भाव कैसे होगा ज्ञान के बिना ये सिद्धांत कह रहे स्मृति भी बोलती है वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा इत्यादि वर्णी है आश्रमी है जो वर्ण वाले माने ब्राह्मण आदि जो वर्ण वाले हैं और आश्रम में ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वाले हैं चार वर्ण चार आश्रम वर्ण आश्रम आश्रम जो वर्णी और आश्रमी दो हैं ये दोनों स्वकर्म अपने अपने कर्म में निष्ठा रखने वाले प्रत्य कर्म उन्हें मर करके अपने कर्म का फल भोग कर ऐसा आएगा श्रुति स्मृति है वो गौतम स्मृति धर्म स्मृति है कर्म उन्हें तथा शेषण शेष जो बचा हुआ कर्म होगा ये कर्म तो भोग लिया उन्होंने अपने कर्मों में निष्ठा रख करके कर्म किया मर करके कर्म फल भोगा उसके बाद जो शेष का संचित कर्म है शेष कर्म है तथा शेषण विशिष्ट जाति आदि वाजो बहुत विशिष्ट जाति आदि तत्त जाति पे फिर आएंगे तब तक जाति में जन्म लेंगे ये ऐसे गौतम धर्म सूत्र में कहा हुआ है ये कहते हैं वर्णा आश्रमा से सुकर्म से इत्यादि स्मृति स्मृति है गौतम धर्म सूत्र स्मृति है कर्म क्षय अनुपत्ति कर्म का नाश होना संभव नहीं है एक कर्म का फल स्वर्ग आदि में भोगने पर भी संचित कर्म को लेकर फिर आते हैं अपने अपने जाति में आकर फिर कर्म करते हैं इत्यादि कहा है हाँ। पूर्वादि ने कहा था उसको माने अनुवाद करते हैं सिद्धांति एक आहूर पूर्वादि जो कहते हैं मीमांसक लोग जो कहते हैं नित्यानि कर्माणी दुख पूर्वत्वात नित्य कर्म दुख के लिए होते हैं फल नहीं है फिर दुख भोगने के लिए है नित्य कर्म न करने पर तो पाप लगे प्रतिवाय होगा करने पर कोई फल नहीं मानते तो फल कुछ नहीं मिल रहा तो नित्य कर्म कैसा दुख स्वरूप है उनका कहना है क्यों करने पर फल नहीं है न करने पर दंड है एक तो आहुर जो ये मीमांसक जो कहते हैं नित्यानि कर्माणी दुख पूर्वत्वाद नित्य कर्म दुख पूर्वक होने के कारण कारण पूर्वकृत दुर्त कर्मणाम फलम है पूर्वकृत पाप कर्म के फल है कर्म करते दुख मिलता है कष्ट होता है तो कष्ट पाप का ही फल होगा ना तो किसका फल पहले किया हुआ जो कर्म है संचित कर्म है पाप उसका फल है मानते हैं मीमांसा लोग तो फलम एवं न तो तेसाम स्वरूप पितृकरण अन्य फलम अस्ती नित्य कर्म का अन्य कोई अपना स्वरूप को आर्जन करना उसका नित्य कर्म करना ही होता है और कोई फल तो होता नहीं उसका न तैसा तो हमारे नित्य कर्म नाम जो नित्य कर्म होते हैं स्वरूप व्यतिरिक स्वरूप उत्पादन करना ही फल हो क्या है नित्य कर्म करना ही फल माना जाता है अन्य कर्म तो फल तो होता नहीं उसका अन्य फलम अस्थित अश्रुता तो नित्य कर्म का फल नहीं सुनाई पड़ा यही बोलते हैं क्यों अग्निहोत्र जूहिया बोल दिया क्या बोला कौन सा फल बताया कोई फल नहीं बताया स्वर्ग काम वो देता वहां तो फल बताया स्वर्ग जाने वाले यज्ञ करे काम्य कर्म में है वो किंतु अग्निहोत्र जुहुयात अग्निहोत्र का हवन करे केवल केवल कर्म का स्वरूप बताया कर्म स्वरूप मात्र को विधान करने वाली विधि को स्वरूप विधि बोलते हैं उत्पत्ति विधि बोलते हैं तो <clears throat> न तो तेसा मान नित्य कर्मान जो नित्य कर्म है उनका स्वरूप व्यतिरेकण अन्य फलम अस्थित अपने स्वरूप उत्पादन से अतिरिक्त कोई फल है ही नहीं नित्य कर्म का ऐसा मानते हैं मीमांसक लोग और तत्व सुनाई नहीं पड़ा है तो श्रुति में सुनाई नहीं पड़ता अग्नोत्र जिया फल बताया फल नहीं बताया कर्म मात्र स्वरूप को बता रहा वो बुद्धि उसको उत्पत्ति बुद्धि को कहते हैं जीवनादि निमित्त बना रहा और दूसरी बात जीवन को निमित्त बना करके उसका विधान है यावत जीवित अग्नोत्र जब तक जीवन है तब तक अग्निहोत्र हवन करे फल नहीं बताया जीवन आदि निमित्त बताया है जीवन को बता दिया निमित्त जब तक आयु है तब तक करना ये कहा है इत्यादि जो बोलते हैं लोग ना सिद्धांत इनका कहना ठीक नहीं है बात नित्य कर्म का कोई फल नहीं है केवल स्वरूप निष्पादन करना मात्र होता है हम्म, ये मानते हैं और फल तो है ही नहीं जीवन निमित्त से जीवन को लेकर के नित्य कर्म के विधान है यावत जीवित अग्रंथ रुजुआत इत्यादि वाक्य है तो ऐसा मानते हैं वो भी नहीं ऐसी बात भी नहीं ना कहते हैं अप्रवृत्ता नाम फलदान असंभवात कहते हैं ये कहते हैं कि पूर्वजन्म दुरित का ही पाप है कहते हैं पाप का फल है नित्य कर्म करना क्या है दुख है दुख है तो पाप का फल है वर्तमान में पाप है ही नहीं पूर्वकृत संचित कर्म है उनके पाप का फल है ये या दुख है तो पाप का फल मानना पड़ेगा ऐसा ऐसा नहीं है क्यों अप्रवृत्तानंद फल फलोन्मुख नहीं हुए संचित कर्म प्रसूत अवस्था में बैठा चाहे पाप हो चाहे पुण्य हो अप्रवृत्तानाम फलदान असंभव जो प्रवृत्त नहीं हो फल देने में उनमें फल देना संभव नहीं है कैसे दुख फल देंगे नित्य कर्म करने का जो दुख होता है वो पूर्वकृत पाप का फल कैसे मानोगे अप्रवृत्त अवस्था में हो वो फल देने के लिए संभव नहीं हुआ फलदान असंभव फल देना संभव नहीं होगा दुख फल विशेषत अनुपत्ति नित्य कर्म करते समय का जो दुख है ना वही फल है कहना संभव नहीं क्यों फल दे ही नहीं सकते अप्रवृत्त अवस्था में हो किसमें है तो फल देना संभव नहीं है कैसे फल देंगे वो नित्य कर्म करते समय दुख पूर्वकृत पाप कर्म का फल कैसे मानोगे तो नहीं मान सकते अच्छा ये जो बोलते हैं तो कहा अप्रवृत्ताना सिद्धांत ने कहा अप्रवृत्ताना फलदान संवाद दुख फल विशेष संपत्ति कर्मांशार कर्म का फल दुख नहीं माना जा सकता यदुक्तम पूर्व जन्म कृत दुरीताराम कर्मणाम फलम नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम भुजते तद पूर्वादि ने जो कहा था मीमांसकों ने कहा था पूर्व जन्म में किया हुआ जो पाप कर्म का फल है नित्य कर्म अनुष्ठान में अनुष्ठान में परिश्रम जन्य दुख था वही भोगा जाता है दुख रूप में भोगा जाता है कर्म का फल पाप कर्म का फल संचित कर्म का फल नित्य कर्म करते दुख के माध्यम से भोगा जाता है जो कहा था तद असत ये ठीक नहीं है इनका कहना ठीक नहीं है क्यों नहीं मरण काले फलदान फलदानाय अनुकूरी भूत जो प्रसुप्त कर्म है पूर्व में जो मरण काल था उस मरण काल में अंकुरी भूत नहीं हुए थे फल देने के लिए उन्मुख नहीं हुए थे जो कर्म सोए हुए अवस्था में है जो प्रारब्ध तो अंकुरी रूप में आ गया था किंतु संचित कर्म जो थे प्रसुप्त अवस्था में पड़े थे पूर्व जन्म में जो वर्ण काल की बात है तो नहीं वर्ण काल ही पूर्व जन्म के वर्ण काल को देख के लेना उसमें फलदान आया अनंकुरी भूत ऐसे फल देने के लिए अंकुर नहीं बने जिस कर्मों में कौन संचित कर्म है वो उनका कर्म उन संचित अनंकुरी भूत ऐसे कर्म जो अंकुरी नहीं हुए जो कर्म अंकुरित नहीं हुए हैं वो कर्म फलम उन कर्मों का फल अन्य कर्म है या अन्य कर्म से आरब्ध जन्म है कौन सा प्रारब्ध कर्म से आरंभ हुआ जन्म है ये तो अन्य कर्म के जन्म है ये इसमें जन्म ने आरब्ध जन्म ने उपभुज्य थी उपत्ति उसमें भोगा जाता है ऐसा युक्ति संगत नहीं है नकार है पूर्व में मरण काल में जो तो फलदान के लिए फल देने के लिए जो अनंकुरी अवस्था में है अंकुरी अवस्था में नहीं है अंकुरित अवस्था में नहीं अंकुरी अनंकुरी अवस्था में पड़े हुए जो कर्म है उसका फल अन्य कर्म आरभ जो अन्य कर्म के द्वारा प्रागोश कर्म के द्वारा यह शरीर बना हुआ है इस जन्म में भोगना संभव नहीं है उसका ठीक है अन्यथा यदि ऐसा न माना जाए अन्य कर्म के आरंभ में अन्य कर्म का फल भोगना माना जाए संचित कर्म का फल प्रारंभ कर्म भोगते समय माना जाए तो क्या आपत्ति है अन्यथा स्वर्ग फल उपभोग आया अग्निहोत्रादि आरभ थे जन्मनी स्वर्ग फल के उपभोग के लिए जो अग्निहोत्रादि कर्म आरंभ हो गया जिस जन्म में अभी इसमें नरक फल उपभोग अनुपत्ति नश्यात नरक फल के उपभोगी होने लग जाएंगे यदि अन्य कर्म के फल भोगते समय अन्य कर्म फल देने वाला हो जाए तो स्वर्ग के लिए जो अग्निहोत्रादि किया था उस काल में नरक कर्म वाला फल भी आ जाए ऐसे मान्यता है क्या नहीं है अन्य कर्म का फल भोगते समय अन्य कर्म का फल भोगा नहीं जाता इसके लिए दृष्टान दे रहे हैं तो यहाँ प्रारब्ध कर्म के फल भोगा जा रहा है अभी तुम कहते हो पूर्व जन्म कृत्य नित्य कर्म करते दुख कोई फल है अन्य कर्म का भोगते समय अन्य कर्म का फल हो नहीं सकता यदि ऐसा मानने लग जाए तो आपत्ति है अग्निहोत्रादि किया था स्वर्ग जाने के लिए तो स्वर्ग के लिए किया हुआ अग्निहोत्र का फल स्वर्ग मिलना है उस काल में नरक भी होगी यदि अन्य कर्म भोग फल भोगते समय अन्य कर्म भी फल देने लग जाए तो नरक वाला कर्म फल देने लग जाए स्वर्ग भोगते समय में ऐसा कोई मान्यता है हाँ। नहीं ठीक है दुरित दुख विशेष फलत्व अनुपत्य और दूसरी बात जो नित्य कर्म का जो कष्ट है ना नित्य कर्म करने से जो कष्ट है तस्य मन वह दुरित दुख विशेष फलत्व अनुपत्य जो कष्ट विशेष का फल मानना ठीक नहीं है जो संचित कर्म का फल अभी नित्य कर्म करते समय दुख होता है वही फल है मानना ठीक नहीं है अनेकेशु ही दुरीतेशु संभव देखो पाप अनेक प्रकार के पाप होते हुए दुरित मने पाप अनेक ऐसे ही दुरित ऐसे संभवत्सु अनेक दुरित के संभावना होते होने पर भिन्न दुख साधन फल विरोतेसु भिन्न भिन्न दुख के साधन भी भिन्न भिन्न थे तभी दुख होना है फलेशु फल भी भिन्न भिन्न है मारे पूर्व में किए हुए जो संचित कर्म उनका फल भिन्न भिन्न प्रकार के हैं एक ही कर्म नहीं है और एक ही फल भी नहीं है और अनेक जन्मों में हुए हैं एक जन्म में भी नहीं है अनेक जन्मों के संचित एकत्रित है यहाँ और अनेक प्रकार के कर्म हुए हैं अनेक जन्मों में और अनेक प्रकार के फल है संभावना है वहां संचित कर्मों के विषय में देखते हैं तो जन्म भी अनेक है कर्म भी अनेक है फल भी अनेक है अनेक प्रकार के फल है खट्टा मीठा नाना प्रकार के फल पड़े हैं अनेकेशु ही दुरीतेशु संभव अनेक प्रकार के पाप की संभावना होने पर पूर्व जन्म किए हुए पाप पाप अनेक प्रकार के संभावना होने पर भिन्न दुख साधन भूत फलेशु कहा भिन्न भिन्न दुख भिन्न भिन्न प्रकार के साधन भिन्न भिन्न फल है इत्यादि होने पर नित्य कर्म अनुष्ठान आयस दुख मात्र फलेशु कर्म पानसु केवल एक ही कल्पना करने पर क्या आपत्ति आएगी नित्य कर्म करते समय जो दुख होता है वही सारे का फल है कर्म अनेक हो रखे हैं और भिन्न भिन्न फल वाले हैं और जन्म भी अनेक हुए तो सारे अनेक जन्मों में अनेक कर्म का अनेक प्रकार के फल हैं उनको एक ही नित्य कर्म करते हुए अनुष्ठान में आया हो दुख का फल मानना उचित होगा ये नहीं होता ये कह रहे हैं अनेक ऐसे दूरितेश अनेक है दूरित अनेक है अनेक जन्मों की या पाप होते हुए संभव संभावना है उनकी और भिन्न दुख साधन फलेश भिन्न भिन्न दुख भिन्न भिन्न साधन भिन्न भिन्न फल इत्यादि नित्य कर्म अनुसावना आयस दुख मात्र फल से एक ही कल्पना कर देना कि नित्य कर्म में जो परिश्रम होता है वर्तमान में वो उससे जन्य दुखी एक फल है सो द्वंद्व रोग आदि बाधा निमित्तम ही निमित्तम नहीं सकते थे कल्पित फिर ये सारे दुख जैसे पहले वाले सारे दुख एक ही फल पे चला गया अब वर्तमान में जो द्वंद्व से होने और शीतोष आदि द्वंद्व से होने वाले दुख अथवा रोग आदि से होने वाले दुख को इसका क्या कल्पना करेंगे वो भी नित्य कर्म करने समय दुख का ही फल है क्या है? दुख भोग में ही चला जाएगा वो यहां तो अभी दुख हो रहा है यहां द्वंद्व के कारण अथवा राग आदि के रोग आदि के कारण द्वंद्व राग आदि रोग आदि बाधा निमित्त बाधा मैंने पीड़ा हम नहीं सकते थे कल्पित तो फिर कल्पना नहीं की जा सकती ये भी वही नित्य कर्म करते समय दुख में वो भोग हो जाएगा मानना पड़ेगा मैंने हम्म। वर्तमान में द्वंद्व सेतु तो भोग प्यासादि द्वंद्व है सेतु तो द्वंद्व है उसे होने वाले दुख को अथवा रोगादिजन्य दुख को भी उसी में कल्पना करना पड़ेगा क्यों भिन्न भिन्न निमित्त भिन्न भिन्न फल वाले को एक ही में अंतर्भूत कर रहे हो तुम क्यों पूर्व में किया हुआ एक ही कर्म तो नहीं है पाप एक है मानते हैं तो अनेक प्रकार के पाप है एक ही पाप नहीं है प्रकार अनेक है और जन्म भी अनेक है निमित्त भी अनेक है उस स्थिति में एक ही मानते हो वर्तमान में किया हुआ जो नित्य कर्म करते हैं जो दुख है वही दुख फल है तो इनको भी दुख में उसी दुख में फल माना जाएगा इसका किसका द्वंद्व निमित्तक जो दुख होगा अथवा रोगादि निमित्तक दुख होगा उसे माना जाएगा नहीं माना जाएगा इसी प्रकार कहा नित्यकर्म अनुसार आज दुखम एवं पूर्वकृत तो फलम हाँ। नित्य कर्म पर परिश्रम होने वाला दुख ही पूर्वकृत पाप का फल है मानना और न सिरसा पाषाण वाहन आदि दुखम ही दिया सिर में जो पत्थर ढोने में जो दुख होता है पत्थर शिला रख करके चलने में कष्ट होगा वो वो नित्य कर्म वो दुख नहीं है मानना युक्ति संगत नहीं हो क्यों अनेक प्रकार के जन्म अनेक प्रकार के कर्म अनेक प्रकार के पाप एक ही दुख मानने में तो फिर शरीर में पत्थर रोते समय जो कष्ट होगा उसको माने उसी में मानना हो उसे भिन्न मानना ठीक नहीं होगा उसी में कल्पना करनी पड़ेगी भाई वर्तमान में जो पत्थर ढो रहा है शरीर में तो शरीर में कष्ट हो रहा है उसको भी उसी में संकल्पित करना युक्ति संगत नहीं होता ये दुख तो वो नहीं है बाकी पूर्वकृत कर्म का दुख एक ही है दुख तो दुख ही है तो इसको भी उसमें समावेश करना होगा यदि करना हो तो तो अनेक जन्मों में अनेक माने पाप के पाप हुआ है अनेक निमित्त से हुआ है उसको एक ही फल मानना है तो इन दुखों का भी उसी में समावेश करना चाहिए इसको कोई करता नहीं तुम करते हो नहीं करते हो इसलिए दुख भिन्न भिन्न प्रकार के हैं नाना हैं एक ही नित्य कर्म अनुष्ठान किस काल में भोगा नहीं जा सकता ये कहना है समय हो गया है यह रखते टीका से फिर देखते हैं ओम पूर्ण पूर्ण पूर्ण ओम